పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదం శంకరం లోకశంకరం చైతన్యం సర్వగం సర్వం సర్వభూతగుహాశయం యత్సర్వం విషయాతీతం తస్మై సర్వవిదే నమః भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत उपदेश भगवान आत्मा के यथार्थ स्वरूप को विवेचन करते हुए क्योंकि वही हमारे लिए चिंतनीय है कि हमेशा आत्मभाव में बने रहे और आत्म स्वरूप के चिंतन करें ताकि ये जो जागतिक चिंतन से मन ऊपर उठ जाए और यही चीज मनुष्य का आनंद देने वाला है मैं बंधन रहित हूँ मैं पाप पुण्य से रहित हूँ जो मेरा सच्चा स्वरूप है उसको भूल करके मैं मनुष्य हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ ये चिंतन जो हमारे लिए दुखदायी है उससे बाहर आ करके हम कैसे अपने स्वरूप चिंतन के माध्यम से अपने स्वरूप को अनुभव कर ले उसके लिए उपदेश रहे सहस्री हजार उपदेश अनेक उपदेश दे रहे हैं और मुख्य रूप से एक ही चीज को लेके भिन्न भिन्न रूप से घुमा घुमा के बोल रहे हैं तो कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोगों ने স্বামীজি আমাদের নেচার অফ উইকনেসের এক নম্বর শ্লোক পেয়েছিল ইক্ষিত্রিতম স্বত সিদ্ধ हाँ, ठीक हाँ। तो ये हम जो हम साक्षी स्वरूप है संसार में रहना तो है क्योंकि प्रारब्ध दिया है भगवान ने रहना भी है संसार को केवल देखते रहना है इसके साथ हमारा तीनों काल में कोई संबंध नहीं है जो भी संख्या की घटना हो रहा है उस घटना की साक्षी हो जाएंगे तो क्या होता है संसार हमारे लिए दुखता ही नहीं होता साक्षी को <clears throat> किसी भी जगह पे जो साक्षी जो था हमें दुखी यदि भवे तो आत्मा को साक्षी दुखी न हो साक्षी न विकारिता नास्ती विकार विकारी न साक्षी ताकुत जो साक्षी होगा उसमें बेकार नहीं होगा केवल देखता रहेगा जो विकारी होगा वो साक्षी नहीं हो सकता ये मन हमारा सुरेश्वराचार्य वार्तिक में लिखते हैं कि धी वृत्ति साक्षी हम अथवा जितने सारे मनोवृत्ति हो रहे उन सभी मनोवृत्ति का मैं प्रकाशक मात्र हूँ साक्षी मात्र हूँ इसलिए मैं हमेशा अभिकारी हूँ मैं हमेशा अभिकारी हूँ तो इसी को मन में रखते हुए जो भी भगवान भाष्यकार उपनिषदों में कहे हुए तत्व को यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा करके हमारे सामने ला दे रहे हैं कि देखो भाई ये स्थिति है इसीलिए तुम अपने स्वरूप को ऐसा ही निर्णय करो कि मैं यही हूँ इससे भिन्न मैं हो नहीं सकता हूँ मेरे साथ सुख दुख भूख प्यास जन्म मृत्यु जरा इसका कोई संबंध ही नहीं लिया तीनों कल में नहीं हुआ इसके साथ संबंध ये तो केवल एक कुछ देर के लिए कल्पना है और उस कल्पना को हमने बना के रखना चाहते हैं इसीलिए उससे बाहर नहीं आ पा रहे जिस दिन मन ये निश्चय कर लेगा कि इससे बाहर आना है हम बाहर जाएंगे इसको पढ़े थे इक्षितम शत सिद्धम जंतु नम च तथा अन्नता अज्ञानाद इति अतो अन्नतम सत इति निवर्तते कि समस्त जीव मतलब जो है अन्य जीव तो केवल भोग जो है मनुष्य जो में एकमात्र स्वतंत्र रूप से कर्म करके आगे बढ़ने का रास्ता खुला हुआ है बाकी ऊपर वाले जो भी भोग जोनी है नीचे वाले जोन भी भोग है ऊपर वाले जोनियों में गंधर्व किन्नर देव लोग आदि में सुख भोगने के लिए जाते हैं और मनुष्य से नीचे शरीर में दुख भोगने के लिए जाते हैं परंतु वहां पे स्वतंत्र रूप से कर्म कुछ नहीं किया जा सकता एकमात्र मनुष्य शरीर में शास्त्र कर्म करके अपने जीवन को बदलने की संभावना है सूत्र में प्रथम अध्याय तृतीय पद में एक अधिकरण आता है देवता अधिकरण उसमें उसके बाद आता है अपशुद्र अधिकरण तो ये दोनों अधिकरण में प्रासंगिक अधिकरण आया हुआ है वहां पे कि ये <clears throat> विद्या में अधिकारी कौन है मतलब विद्या में अधिकारी सब है उपासना में देवता और कर्म में देवता के नहीं है विद्या के अधिकारी सभी है ऐसे निर्णय हुआ तो इक्षित्रतम शत सिद्धम प्योर जो कॉन्शियसनेस है उसमें जो है केवल देखना वो अपने आप ही सिद्ध होता है वो मतलब केवल देखना मतलब देखना क्रिया नहीं है केवल प्रकाश स्वरूप सूर्य जैसे प्रकाश करता है प्रकाशात्मक क्रिया नहीं है इसी प्रकार और तो अज्ञान अज्ञान से हमें क्या होता है उससे भिन्न जैसा लगता है मैं करता भोगता तो ऐसा लगता है परंतु ये भाव जो है गुरुमुख से शास्त्र वक्त को सुन करके और शास्त्र के प्रति निष्ठा होने पर सदस्य इतनी वर्तत है तुम ही सत तत्व व्यापक तत्व हमेशा रहने वाले सतमत्व तीनों काल में रहने वाले अकेला तुम हो अब सारा वस्तु संसार में जो दिखाई दे रहा है वो सब नाशवान है अतो अन्नद आर्तम वृदन एक आत्मा को छोड़ करके एक स्वरूप हमारे स्वरूप सारा संसार की वस्तु विनाशी है इसलिए <clears throat> जो है इस भावना को मन हमेशा बना शरीर भगवान ने दिया कि इसी शरीर में बैठ करके इसको अनुभव होना संभव है अन्य किसी शरीर से होना संभव नहीं है इसलिए परंतु शरीर संसार भोग के लिए नहीं है संसार भोग से निवर्तन होने के लिए मिटा करके बाहर आने के लिए एतावद्ध्य अमृतत्वं न किञ्चिदन्यत्सहायकं ज्ञानस्येति ब्रुवत्शास्त्रं सलिङ्गं कर्म बाधते न कर्म बाधते हे मैत्री बस ये तुमको हमने पुलिस किया इसको तुमने ठीक से सुना तब हमने छोड़ देने का मतलब सुनने के बाद कुछ देर तुम मनन करो इसको लेकर के तुम्हारा अपने आप अपना स्वरूप उद्भव हो जाएगा अपने आप जो है अपना स्वरूप को अनुभव में आने लग जाएगा इसलिए इतना ही अमृतत्व है क्योंकि मैत्री ने पूछा था कि किम हम तेन कुर्मा जैन हम अमृता नाशन जाके बोले अब मैं संपत्ति बांटने वाला हूँ तो हम अब मेरे पास आके बैठो दोनों में बांट देता तो बोलते हैं मैं ये सब संपत्ति लेके क्या करूँ क्या इससे मैं अमृत तत्व को प्राप्त कर सकता हूँ जागबल को बोले नहीं नहीं वित्त से तुम अमृत तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हो तो मेरे को ये नहीं चाहिए मेरे को अमृत तत्व प्राप्ति के साधन बताइए तो बल कृषि ने उनको जो है मतलब स्थिति उत्पत्ति उत्पत्ति से पहले स्थिति काल में और लय और लय के बाद में जो वस्तु जिसको छोड़ के नहीं, नहीं सकता जिसको छोड़ के नहीं रह सकता वही उसका स्वरूप होता है इसको जो दृष्टान्त का माध्यम के समझा करके इसलिए यही तुम्हारा स्वरूप है सच्चिदानंद पूर्ण व्यापक ब्रह्म हो असंग हो अकर्ता हो अभुक्त हो तुम स्त्री पुरुष आदि नहीं हो ऐसा करके समझा बस यदि नहीं आता समझ में मेरा शरीर रहते रहते इसको कर देना है घन है वो अनाप्रयुक्त शंका अस्थित ये प्रज्ञान घन है परंतु शरीर छूट जाएगा तो फिर इसको समझना मुश्किल हो जाएगा इसको, रहते रहते विचार करते इसको अनुभव कर लिया जाए एतावती अमृतत्व इतना बोल करके बस इतना ही अमृतत्व के साधन है एतावती अमृतत्व न किंचित अन्न इस, इस अमृतत्व को इस ज्ञान प्राप्त के लिए या मुक्ति के लिए और ज्ञान बिना और कोई दूसरा साधन नहीं है दूसरा साधन नहीं है भगवद गीता की चतुर्थ अध्याय में भगवान श्री कृष्ण मतलब कर्मण से पहले बोलता है जद ज्ञावा मोक्ष से शुभात जिसको जान करके तुम समस्त अशुभ से मुक्त हो जाओ और कुछ करना नहीं पड़ेगा वहां पे ज्ञान मात्र ही मुक्ति के हेतु है हाँ उसको समझने के लिए जो मानसिक जरूरत है उसके लिए कर्म पहले चाहिए परंतु वेदांत संबंध में निष्ठा आ जाए तो फिर कर्म आदि को नहीं करना चाहिए बिल्कुल तब क्योंकि वो शास्त्रीय कर्म आदि में प्रवृत्ति होना ही मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर दुष्ट भावना ना लेते मैं ब्रह्मचारी गृह बनस्पति सन्यासी मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध मेरे लिए शास्त्र ने विधान किया ये मेरे को करना चाहिए बस उधर ही मन नहीं जाएगा इसलिए बोलते हैं एतावत ही अमृतत्व ना किंचित अन्न सहायक इस अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए इसका कोई सहायक नहीं चाहिए अकेला ज्ञानी मुक्त करने पे इमोर्टलिटी के लिए पर्याप्त साधन है ज्ञान सहित ब्रुवत शास्त्र इस प्रकार ज्ञानी मुक्ति के लिए साधन है इस प्रकार बोलती हुई शास्त्र सलिंगम कर्म बाधते चिन्ह सहित कर्म को निश्चित कर देते हैं चिन्ह हो गया ये जो हमारा शिखा सूत्र शिखा सूत्र सहित चिन्ह सहित मतलब यहाँ तक भी सन्यास के चिन्ह को भी छोड़ करके बस केवल अपने स्वरूप भाव में बैठना है सलिंगम जिस चिन्ह लिंगम मतलब चिन्ह चिन्ह में ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शुद्ध गृहस्थ वनपुत्र सन्यासी है जिसके लिए जो जो जिसका चिन्ह है उन समस्त उदाहरणों चिन्ह जब तक रहेगा तब तक हम कर्म करने के लिए हमारी प्रवृत्ति होगी इसलिए चिन्ह सहित कर्म को बात करते हैं मतलब शिखा सूत्र सहित का शास्त्रीय कर्म को छोड़ दो शिखा सूत्र रहेगा तो इस प्रकार मतलब संन्यास के विधान करते हैं ज्ञान से ही मुक्ति है और उस ज्ञान के लिए मुख्य साधन है संन्यास संन्यास मतलब क्या है शास्त्रीय कर्म करने की प्रवृत्ति की करने की जो उसकी चीज को छोड़ देना क्योंकि वो शास्त्रीय कर्म करने से हमें पुण्य होता है और पुण्य से हमें सुख प्राप्ति होता है और ये सुख प्राप्ति की इच्छा सभी व्यक्ति के बैठे होगा परंतु स्वरूप सुख नहीं है वो जन्य सुख है शास्त्रीय कर्म करके उत्पन्न किया आपने इसीलिए स्थायी नहीं है अस्थायी सुख है अस्थिर सुख है इसलिए क्या करना पड़ेगा उसको छोड़ना पड़ेगा छोड़ के स्थायी सुख जो वहां पे बैठो ये शास्त्र की विधान है इसलिए एतावधि अमृतत्व न किंचित अन्य सहायक बस ये ज्ञान से ही अमृतत्व को प्राप्त किया जा सकता है आत्मस्वरूप ठीक से समझना और उसमें स्थिर होकर विद्यमान रहना शास्त्र ने जैसा बताया बस उसी भाव में रहना ये नहीं कि मैं ये हूँ मेरे को ये कर्म करना शास्त्र ये नहीं बस मैं असंग व्यापक पूर्ण तत्व हूँ मैं अकर्ता हूँ मैं अभुक्त हूँ मैं प्रशांत हूँ मैं अनंत हूँ मैं चिरंतन हूँ मैं हमेशा रहने वाला हूँ इस प्रकार से रिश्ते जैसे शास्त्र ने बताया इस प्रकार विचार करते स्थिति में मन को रख बना के रखना ये चीज बात इतना चीज बोल रहा है एक ही चीज घुमा घुमा के बोल रहे हैं अब बोल रहे हैं कि इसके लिए इस भाव में रहने के लिए कि जब तक हमारे पास कोई दूसरा अवलंबन रहेगा ना हम उसी अवलंबन को पकड़ने का कोशिश करते हैं इसीलिए शास्त्र बोला कि पुत्रेशन वित्तेशन लोकेशन जो बुद्धाय अथ भिक्षाचर जम चरंती उपनिषद वाक्य है भगवान बात पर एक भी शब्द मन से नहीं बोला बस प्रारब्ध वसत जो हमारे बैराग्य सदा बोला चलो मन शिव जी के नगरी में जा करके वहीं रास्ते के किनारे बैठ जाते हैं भगवान की बस विश्वनाथ में मन लगाते हैं जो भाग्य से मिलेगा उसी से जीते जाएंगे खुशी के अमृत होगा भिक्षान अमृत होते हैं साधुओं के लिए उसी से जीवन करेंगे क्यों यहाँ पे भटकना है इधर उधर भटकना है इसलिए बोलता है द इतना ही जो है अमृतत्व का साधन है ये अमृतत्व ने अमृतत्व एतद अमृतत्व एतद ब्रह्म एतद सर्वम यही जो है सर्व रूप है यही ब्रह्म है यही अमृतत्व है अमृतत्व हमारा स्वरूप है हम किसी से प्राप्त नहीं होता क्योंकि यदि वो उत्पत्तिशील वस्तु होगा तो नाशवान भी होगा केवल नहीं समझ में आ रहा है वो शास्त्र गुरु शास्त्र वक्त गुरु मुख से सुनने से वो समझ में आ जाता है बस मैं अमृत स्वरूप जन्म अमृत स्वरूप मतलब जन्म मृत्यु के बंधन मेरा मुझे नहीं है जन्म मृत्यु के बंधन में उससे रहित हूँ इसलिए स्वलिंगम कर्म बाधित है लिंग सहित कर्म बाधित हो जाता है यहाँ पे लिंग से विपरीत चिन्ह चिन्ह मतलब हो गया शिखा सूत्र शिखा सूत्र से रहित जो है जो स्थिति है उस अवस्था में आकर के शास्त्रीय कर्म करने की प्रवृत्ति ये करने से मिलेगा ये भाव नहीं मन से निकल मैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म हूँ और इस इस भाव में विचार करते करते रहने से क्या होता है अपने आप अंदर से अभिव्यक्त होता है आगे इसी को समझाते हुए बोलते हैं सर्वेशा मनसो वृत्तम अभिशेषे न पश्यत तस्मे निर्विकार विशेष कथम चना सर्वेषां मनसवृत्तिम् अविशेषेण पश्यतः तस्य मे निर्विकारस्य विशेष मन में जितना वृत्ति उठते हैं जितना वृत्ति उठते हैं मैं जो अभी कुछ बोल रहा हूँ आप समझ रहे कोई नहीं समझ रहे ये जिसके रहने के कारण हम समझ में आता है इन समस्त वृत्तियों का जो प्रकाशक है मनस सर्वेशम वृत्तम सारे वृत्तों को सर्वेशा वृत्तम अविशेष न पश्चित सामान्य से सबको देखने वाला सबको देखने वाला है तो इसलिए ये जो मन की सारा वृत्ति को देखने वाला रूपी जो मैं हूँ मैं तस्तर जो मैं निर्विकारी हूँ क्योंकि मैं साक्षी हूँ मैं केवल प्रकाश मात्र हूँ और उस प्रकाश का द्वारा कौन क्या कर्म करेगा उस कर्म का द्वारा जिस प्रकार सूर्य प्रकाश हो चाहे चंद्र प्रकाश हो उस सूर्य प्रकाश के चंद्र प्रकाश से कोई व्यक्ति क्या काम करेगा उस काम के द्वारा सूर्य प्रकाश कभी भी ले पायमान नहीं होता उस सूर्य का प्रकाश स्वाभाविक रूप से टट्टी में भी आता है गुलाब फूल में भी आता है गंगा जल में भी आता है नाली के जल में भी आता है उससे द्वारा सूर्य कभी भी ले पायमान नहीं होता इसी प्रकार से सामान्य रूप से जितने सारे वृत्ति मन में उठते हैं सारे वृत्ति का मैं प्रकाशक हूँ सारे वृत्तियों के मैं प्रकाशक हूँ इसीलिए उन वृत्तियों के दृष्टा होने के कारण उन दृश्यात्मक वृत्ति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है उस दृश्यात्मक वृत्ति के साथ मेरा कोई संबंध मैं उससे सर्वथा अलग हूँ मन और मन की विकार उसकी विचार उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है मैं केवल उसको देखने वाला मात्र सर्वेशा मनुष्य वृत्तम अविशेषण सभी मन की वृत्तियों को मैं सामान्य रूप से प्रकार देखता रहता हूँ तस् में निर्विकार तीन षष्टी एक वचन वो मैं जो हमेशा निर्विकार हूँ क्योंकि मैं देखने वाला साक्षी हूँ विशेषता हम हमारे अंदर विशेषता कहाँ से आएगा कथन विशेष किसी प्रकार से कोई विशेषता हमारे अंदर प्रवेश करेगा किसी भी प्रकार कोई विशेषता हमारे अंदर नहीं है कोई भी विशेषता होगा ना तो विशेष को देखने वाला नहीं हो पाऊंगा तब तो विशेष के साथ मिल जाएगा वही विशेष समस्त विशेष से रहित होने के कारण ही क्या होता है मन में जो भी उठता है उसी आकार से हम दिखाई देते हैं मन में जो, भी वृत्ति मन में उठता है हमारे अंदर को और केवल एक शरीर में नहीं सभी शरीर में जितने सारे शरीर देवता हिरण्य गर्भ से लेकर के चीटी तक सभी शरीर में एक एक ही आत्मा है परंतु सभी शरीर में सूक्ष्म शरीर अलग अलग है मन अलग अलग है परंतु अलग अलग मनोवृत्ति को अलग अलग प्रकार से मतलब प्रकाश एक ही है परंतु जिसका जैसा जैसा कर्म अनुकूल उसका प्रकाश ही कारण मैं तो सर्वथा ही असंग हूँ मैं वृत्ति का प्रकाशक हूँ वृत्ति को देखने वाला हूँ वृत्ति के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है इसलिए मेरे अंदर विशेषता कहाँ पे आएगा तो हमारी एक अद्भुत अज्ञान की महिमा बैठे हुए हैं जितने सारे विशेषता के साथ हम अपने आप को बोलते हैं उतने ही हम अपने को महिमा अंडित महिमा अंडित मंडित मानते हैं कि श्रीमत एक हजार आठ और ना जाने कितना कितना एक सौ आठ महामंडल स्वामी है ये पीठाधीश वो पीठाधीश सारा उपाधि के साथ मिल करके ये बोलते हैं एक व्यवहारिक मर्यादा परंतु वास्तविक जो जानने वाला जानते हैं कि इसके साथ हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है आत्मा ना जन्म लेता है ना मंडल लेता है ना आत्मा ना मंडलेश्वर है ना संन्यासी है आत्मा ना मेरा ना पुण्य है ना पाप है बस शुद्ध चेतन ही मेरा स्वरूप है इसलिए आप बोला सर्वेशा मनुष्य वृत्तम अविशेष न पश्चित सारा मन की वृत्ति को सर्वेशा मनुष्य वृत्तम अविशेष न पश्चित सामान्य सबको प्रकाश करने के कारण तस्में निर्विकार देखते हुए हाँ लिख जाए तो देखते हुए विकार हो रहा है तो आत्मा नहीं होगा साक्षी नहीं हो पाएगा वो प्रमाता हो जाएगा वो प्रमाता हो जाएगा तस्में निर्विकार विशेष कथन हमारे अंदर विशेषता कहाँ से आएगा निर्विशेष हूँ मैं असंग हूँ व्यापक हूँ जैसे ही मान लीजिए कोई वस्तु को देख करके मन में कोई सुख दुख आदि कोई वृत्ति उठते हैं तुरंत समझना इस चीज को ये प्रमाता है ये साक्षी नहीं है साक्षी तो इसका प्रकाश कर दिया कि देखो मन में ऐसा दुख सुख फिर ये प्रमाता के अंदर वो जो है वो मन की उस वृत्ति के साथ आध्यात्म करके माता सुखी दुखी हो रहा है साक्षी में सुख दुख नहीं है साक्षी तो सुख दुख का प्रकाश है इसलिए जब कभी भी ऐसा वृत्ति नहीं उठेगा ये बात नहीं है आना आ सकता है परंतु ये पश्चिम पश्चिम ये विवेक चाहिए यहाँ पे ये कहाँ दिखाई दे रहा है क्यों ऐसा हो रहा है क्यों ऐसा हो रहा है कि उस वस्तु के प्रति मन की कुछ मतलब अनुकूल प्रतिक्रिया तक बुद्धि बनी हुई थी और तद अनुकूल वो मतलब विषय घटी घट घटना वहां पर नहीं घटा परंतु मन उसके रिएक्ट कर रहा है परंतु ये रिएक्शन जो है मन कहता है कि सीमित है मैं मन की इस रिएक्शन को देख रहा हूँ काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब मानसिक विकार है ये सब मानसिक विकार है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा घृणा विद्युत परस कतरत ये सब मन के विकार है मैं उनको देखता रहता यदि उठता भी है तो उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है यदि उसका संबंध नहीं है ऐसा निश्चय करके मन को छोड़ देंगे तो मन फिर कुछ नहीं कर पाएगा जैसे ही हम उसके साथ साथ देने लग जाएंगे तो फिर मन और फिर हमको नचाता रहेगा अच्छा। इसलिए यहाँ पे आगे बोलते हैं कि मनोवृत्तम मनश्चैव स्वप्न जागृतीक्षुतु संप्रसादे द्वयोसत्वात् चिन्मात्र सर्वगोदयः मनोवृत्तं मनश्चैव संप्रसादे द्वयोसत्वात् चिन्मात्र मन की जितना वृत्ति है और मन सहित मन के जितने सारे वृत्त है मनोवृत्त मनस्टैव स्वप्नवत जिस प्रकार स्वप्न काल में मन ही अनेक वृत्ति को धारण करके हमारे सामने नाचते रहते हम देखते रहते सुख दुख होते रहते स्वप्नवत जागृत इक्षित जागृत कर्म भी देखने वाले का एक क्षेत्रीय प्रतिपति का एक धातु है प्रत्यय हुआ उसका देखने वाले कहा त्याग दीक्षित उसका भी देखने वाले का क्या होता है मनोवृत्तम मनुष्य स्वप्न स्वप्न में जैसा मन ही प्राधान्यता लेकर के सब कुछ तैयार करके अपने आप देखते रहते हैं दिखाते भी रहते हैं देखते भी रहते दिखाते भी रहते हैं ये बड़ी विचित्र बात है क्योंकि बुद्धि और मन ही तो देखते हैं वहां पर कौन देखता है आत्मा में तो कोई देखने का केवल प्रकाश मात्र है आत्मा पर प्रकाश बना के रखते हैं देखने का जो भी क्रिया हो रहा है वो तो मन मन के लेवल में होता है अंत कर्ण के लेवल में है वो मन मन की वृत्ति सब जो है ये स्वप्नबद्ध जागृत जागृत काल भी ऐसा ही है अपनी मनोवृत्ति के अनुसार जहाँ जहाँ पे हमने ममत्व ठप्प बना रखा वही मेरा संसार है जहाँ हमारा ममत्व ठप्प नहीं है वहां पे क्या भी कुछ हो रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यानी कि घटना दुखदायक नहीं है हमारी मन जहाँ पे ममत्व बुद्धि बना रखा वो दुख के हेतु होता है इसलिए यहाँ पे बोलते हैं मनोवृत्तम मनश्चेग स्वप्न व जागृत इच्छित मनोवृत्ति और मन ये सब जो है स्वप्न में जैसा व्यवहार करते रहते सब कुछ तैयार करके सुख दुखी होते है इसी प्रकार जागृत में देखने वाले का यही स्थिति है दोनों ही मिथ्या है क्यों दोनों ही जो है जागृत स्वप्न दोनों ही मिथ्या क्यों क्योंकि सुषुप्ति कल में व्यविचार कर जाते हैं और सुषुप्ति सत्य है कि अभिमित है क्योंकि सुषुप्ति की वस्तु जागृत में व्यविचार करते हैं स्वप्न में व्यविचार करते हैं इसलिए तीनों ही अवस्था त्रय जो है आत्मा में नहीं है वो शरीर इंद्रियों मन बुद्धि की अश है आत्मा उसका प्रकाशक है आत्मा जो अपरिवर्तनीय तत्व तीनों को देखने वाला वो आत्मा है और तीनों जो परिवर्तनीय तत्व है वो मिथ्या है जागृत स्वप्न से संप्रसादे दयो असत दयो असत्वाद चिन्ह मात्र सर्वगव्य संप्रसाद सुषुप्ति अवस्था में गंभीर गहरी निद्रा में दोनों ही नहीं रहता जागृत वृत्ति भी नहीं रहती इंद्रिया भी काम नहीं करते मन भी नहीं काम करते थोड़े शरीर के बिस्तर में ऐसे ही पड़ा रहता इसी प्रकार संप्रसादित द्वयो असत्वात चिन्ह मात्र सर्वग अव्यय मैं शुद्ध चैतन्य मात्र हूँ सभी शरीर में एक मैं ही हूँ दूसरा कोई नहीं है और मैं व्यय रहित हूँ व्यय किसका होता है जागृत सपन सुषुप्त में व्यय होता रहता है उसमें इनकम भी है एक्सपेंडिचर भी है परंतु आत्मा में ना तो कोई एक्सपेंडिचर है ना क्योंकि कोई इनका मेरी आत्मा से फूल है इनकम करने का जगह ही नहीं है कुछ भी गुण के साथ कोई संबंध नहीं है इस प्रकार से ये जो है सर्व बार बार बार बार आत्मचिंतन में मन को लगा कर रखने लेके देखिए कितनी प्रकार से घुमा घुमा के एक ही चीज को मन को ऊपर अभी अधिकतर ध्यान देना है नेचर ऑफ विटनेस अब किसको देख रहे हैं मैं साक्षी हूँ तो किसको देख रहा हूँ मन को देखे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर की क्रिया तो सूक्ष्म शरीर को पर निर्भर करता है जैसा जैसे हम मनोवृत्ति उठते हैं ऐसे शरीर को कराता रहता है मनोवृत्ति का भी मैं साक्षी हूँ और इस मनोवृत्ति को यदि देखते रहेंगे तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता था तो वैसे ही पड़ा रहेगा जैसे सुषुप्ति काल में मनोवृत्ति बस अज्ञान को देखते परे रहते हैं तो स्वप्न काल में शरीर तो बिस्तर के ऊपर पड़ा ही है कुछ नहीं परंतु तो नया शरीर बना करके हम घूमते रहते हैं इसी प्रकार जागृत काल में भी हम जो है एक एक के बाद एक कुछ दिन एक शरीर से व्यवहार करता है कब कब फट गया पुराना हो गया नया शरीर व्यवहार करके उससे जो है हम सुख दुख सुखी दुखी होते रहते हैं जागृत स्वप्न दोनों ही जो है मिथ्या है यहाँ तक भी सुसुप्त भी मिथ्या है परंतु जागृत स्वप्न में व्यविचार करता है स्वप्न की वस्तु स्वप्निक वस्तु जागृत में व्यविचार करता है जागृत कालीन वस्तु स्वप्न में व्यविचार करता है इसीलिए दोनों ही मिथ्या है जागृत स्वप्न दोनों ही शब्द सुषुप्ति कालीन व्यविचार करता है इसलिए एक दोनों ही मिथ्या हो गया इस प्रकार से निष्कृति हेतु है मुख्य रूप से जहां तक दिखाई देगा वो सारा मिथ्यात्व कोटि में आएगा सब विवादास्पति जगत मिथ्या है क्यों क्योंकि दिखाई देता है और आत्मा सत्य है क्यों क्योंकि दिखाई नहीं देता है अगर मतलब दिखाई नहीं देता तो ज्ञान कैसे होगा बस यही ज्ञान होना है कि विषय रूप में दिखाई नहीं देगा मतलब अस्तित्व समझ में आएगा दिखाई तो वो देते हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के तरह ग्रहण होता है आत्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध अलग करके न मिला करके कुछ भी नहीं है आत्मा इसलिए आत्मा को नहीं दिखाई पड़ता इसलिए आत्मा इंद्रिय गम्भ नहीं है मनोगम्य नहीं है परंतु अस्तित्व तो समझ में आता है सिर्फ संप्रसादे दयो असत्वाद दोनों असत्य रहने के कारण मतलब सुशिक्षित अवस्था में दोनों ही व्यभिचार कर जाने के कारण चीन मात्र सर्वग अव्यत में शुद्ध चेतन मात्र व्यापक चेतन हूँ और अभिकारी हूँ अव्यय मतलब अभिकारी हूँ मैं व्यय रहित हूँ मैं आगे देखिए बोलते स्वप्न सत्य जथा बोधात देहात्मत्तम तथे च प्रत्यक्षादिर प्रमाणत्तम जागृत सत भेदना स्वप्न सत्य जथा बोधात ध्यात्मत्वं तथैव च प्रत्यक्षादिर्प्रमाणत्वं जागृत सत आत्मभेदनात् स्वप्न सत्य जथा जैसे स्वप्न सत्य कब तक लगता है जब तक हम सोते रहते हैं स्वप्न देखते तब तक स्वप्न सत्य है इसलिए बोलते हैं स्वप्न सत्य जथा आप बोधात जब तक हम जागते नहीं है तब तक स्वप्न सत्य लगते हैं देहात्मत्ता तसेव शरीर आत्मा ये बुद्धि भी वैसे ही है शरीर में आत्मा है शरीर आत्मा है मैं शरीर हूँ इस प्रकार की जो बुद्धि है ना ये भी वैसे ही है अपने आप आत्मा के प्रति जग जाएंगे माया निर्दय टूट जाएगा तब संसार की सत्य बुद्ध नहीं रख स्वप्न तब तक सत्य रहता है कि स्वप्न सत्यम जथा आ प्रबोध आ बोधात् मतलब प्रबोधात् जब तक हम निद्रा से नहीं जगते तब तक जो भी हम स्वप्न में देखते सब सत्य लग जाए परंतु निद्रा से जग देने के बाद सारा मिथ्या हम स्वयं निश्चय करते हैं इसी प्रकार मैं शरीर हूँ ये बुद्धि भी ये बुद्धि भी तब तक सत्य रहेगा जब तक हम आत्मा के प्रति नहीं जागेंगे केवल इतना ही नहीं है प्रत्यक्षादि प्रमाणत्म क्योंकि हम शास्त्र प्रमाण के अधिक प्रत्यक्षादि प्रमाण का अधिक मान्यता देते हैं मैं भिन्न हूँ आप भिन्न हूँ मैं बोलने वाला आप सुनने वाला ये जो बात है तो प्रमाणत्म जागृत से आत्मवेदना वो जागृत कल में दिख मतलब यहाँ पे बोलना आत्म ज्ञान हो जाने पर फिर ये जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का कोई आवश्यकता ही नहीं है वो अपने आप ही नहीं रहेगा जागृत हो जाओगे जागृत सत वेदना प्रत्यक्ष आदि प्रमाणत्म तब फिर जो है इसमें प्रमाणत्व कोई भी कुछ भी नहीं रह जाता केवल आत्मशास्त्र के द्वारा ये समझ में आता है दूसरा कोई भी उसके लिए काम नहीं करता इसलिए आत्म वेदना आत्म ज्ञान हो जाने से ये जागृत में भी जो प्रत्यक्ष दीपमान से हम अपने को जो है सत्य मानते हैं जब तक नहीं जागेंगे तब तक ये प्रमाणत्व माना जाता है प्रत्यक्ष आदि प्रमाणत्व प्रत्यक्ष में प्रामाणिक है कब तक अजागृत भी प्रामाणिक है जो हम दिखाई पड़ता कब तक जब तक हम आत्म आत्म वेदना जब तक ना आत्मा के प्रति हम जगते हैं जैसे हमारी ये भी नहीं था त्र्यंबकम जजाम सुगंधि पुष्टि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मक्षीय मृता यहाँ पे जो माँ है ना माँ पांच औकार है इसमें औकार पांच है <laughs> माँ में दो है आ अमृतात् आ में दो है फिर अमृत एक है पांच पांच आकार एक आकार में आ गया मृत्यु और मक्षीय माँ माँ मतलब मुझको माँ वहां पे आकार दीर्घ है हमारा दो आकार हो गया आ वो भी दो आकार हो गए और अमृतात एक आकार में पांच आकार छुपा हुआ है पांच आकार छुपा है इसे पता जागृत शायद आत्मवेदन आत्मवेदना जागृत में प्रामाणिक प्रत्यक्ष प्रमाणतम जागृत काल में जो हमको प्रतीत होता है कब तक आत्मवेदना जब तक ना हमें आत्मज्ञान होता जब तक मैं अपने प्रति नहीं जगता हूँ माया निधर में सोता रहता हूँ तब तक ये प्रत्यक्ष दिशा प्रमाण ये बड़ा भयंकर लग रहा है सुनने से ये प्रत्यक्ष आदि तो सभी व्यक्ति प्रमाण मानते हैं ये माया निद्रा में सुख कैसे है अध्यक्ष भाष्य देखेंगे पता लगेगा सदा सारा जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण प्रमाता प्रमेय प्रमेय ये सब जो है ये अध्यक्ष करके व्यवहार होता है माया निद्रा में सो करके व्यवहार होता है किसी को पता हमको पता ही नहीं है कि हम माया निद्रा में सो करके व्यवहार कर रहे हमें लगता है तो हम तो जग करके व्यवहार करते हैं मैं ये जानता हूँ मैं वो जानता हूँ परंतु तो जगत जगत के प्रति जगह रहना ही मतलब आत्मा के प्रति सोते रहना और ये आत्मा के प्रति सोते रहने के कारण ऐसा ही व्यवहार होता रहेगा प्रत्यक्ष आदि को प्रामाणिक लगे परंतु जब जैसे हम आत्मा के प्रति जग जाएंगे मैं कल भी बताया था अनादि माया सुप्त जदा जीव प्रबुद्ध थे अजम अनिद्रम असपनम अद्वैतम थे तदा अनादि माया निद्रा में सुबह हुए जीव जब जगते हैं आत्मा के प्रति जगते हैं अनादि माया या सुप्त जदा जीव थे अजम अनिद्रम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्ध मैं जन्म मृत्यु से रहित हूँ अनिद्रम मतलब अज्ञान नहीं रहेगा अन्यथा ग्रहण अग्रहण भी नहीं है अन्यथा ग्रहण भी नहीं है क्योंकि अग्रहण के कारण ही अन्यथा ग्रहण होता है वहां पे क्या पड़ा हुआ है वो ठीक से नहीं देखा उसके फलस्वरूप मैंने वहां पे क्या किया ये सर्प समझ लिया ये नॉट अंडरस्टैंडिंग तो वहां पे क्या है उसके लिए मिसअंडरस्टैंड होता है सब टेंशन हो जाता है तो यही चीज है कि अजो फिर अनिद्रम असपनम अद्वैतम बुद्ध उस समय जाके हमें भेद रहित स्थिति हमको समझ में आता है स्वप्न सत्य यथा आप प्रवता जिस प्रकार सात्विक वस्तु जब तक मैं निद्रा में हूँ तब तक वो सत्य ही दिखता है देहात्मतम तथी बचे शरीर मैं हूँ ये बुद्धि भी वैसा ही है जब तक मैं निद्रा में सोते रहेंगे तब तक ये शरीर में ऐसा ही लगेगा ऐसा ही लगेगा इसमें कोई ये नहीं है परंतु और क्या होता है कि आत्मवेदनात् आत्मवेदना जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है ऐसा मानना तो जागृत में प्रत्यक्ष व्यवहार करता है वो प्रमाण है ऐसा लगता है वो शास्त्र जो बोल रहे वो प्रामाणिक है वो शास्त्र के द्वारा जब हम जग जाएंगे शास्त्रों की भेड़ियों को बार बार कान के सामने बजाते रहेंगे तो हम जग जाएंगे जग जाके जब हमारे आत्मस्वरूप का हमारा बोध होगा तो अब क्या हो जाएगा ये प्रत्यक्ष आदमी सतत्व बुद्धि भेद दिखाई प्रत्यक्ष क्यों बोल रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण से भेद दिखाई पड़ता है ये सब भेद मिट जाएगा बस एक आत्मा असंग पूर्ण व्यापक है ये दृढ़ से निश्चय हो जाता है वेदांत दृढ़ी वेदांत की भेड़ियों में जब तक बार बार कान में गूंजता रहेगा ये मैं अकर्ता हूँ मैं अभक्त हूँ मैं प्रशांत हूँ मैं अनंत हूँ मैं चिरंतन हूँ मतलब अनंग हूँ कोई शरीर भी नहीं है कोई शरीर नहीं है कोई अंग नहीं है मैं एक व्यापक शुद्ध चेतन बार बार बार बार ये चिंतन यदि मन में घूमता रहते हैं तब फिर क्या होता है कि जागृत काल में जो भेद दिखाई पड़ता है वो भेद आभास हो जाएगा इस समय चिदाभास आभास रूप में है चित आभास रूप में है और जागृत जब बलवान होकर के बैठे हुए विचार उल्टा करेंगे तो चैतन्य बलवान हो जाएगा और जागृत आभास हो जाएगा जागृत आभास हो जाएगा क्योंकि जागृत तो अनेक के लिए है ना इसीलिए जागृत कालीन वस्तु इस समय सत्य जैसा दिख रहा है परंतु जागृत आभास हो जाएगा कब जब जो है आत्मा के प्रति हम जग जाएंगे और जब तक आत्मा के प्रति हम सोते रहेंगे तब तक ये शरीर ही मैं हूँ यही भावना रहेगा ये बार बार सुन करके इसको बिल्कुल निश्चित कर देना है ठीक है शरीर अपनी जगह पे है शरीर भगवान ने दिया इस चीज को समझ लेके कि, कि मैं शरीर नहीं हूँ ये तो समझ में नहीं आता मैं एक असंग व्यापक हूँ ये समझने के बाद इसके साथ तादात्म नहीं करना ये रहे चाहे ना रहे उससे जो है हमारा कुछ भी फर्क नहीं है क्योंकि इसको रहने चाहे नहीं रहने से हमारे अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे अस्तित्व तो हमेशा बना ही रहते शरीर रहे चाहे ना रहे हमारे अस्तित्व में कोई कमी नहीं आएगा अब प्राण ही अमना शुभ्र प्राण रहे चाहे ना रहे मन रहे चाहे ना रहे मैं तो शुद्ध असंग बैकअप हमेशा इस प्रकार श्रुति होती है इसलिए जो आत्मज्ञान अब जब तक नहीं होता तब तक जागृत आदि में जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण हम व्यवहार करते तो वो प्रामाणिक जैसा लगता है परंतु हम्म, जब तक एक जैसे ही आत्मज्ञान हो जाता है तब तो अपने आप उठकर बोलता है ये कैसा हो गया दक्षिणा मूर्ति में भी ऐसा है राहु क्रस्त दिवा दिवाकरेन्दु सदृश माया समादना सन्मात्र करण उपसंहार जो भूत सुषुप्त अपमान प्राक्षात समिति प्रबोध समय जा प्रत्यभि प्रत्यभिज्ञाते तस्मय श्री गुरुमूर्तये नमदम से इस प्रकार राहु सूर्य को ग्रास कर लिया ऐसा लगता है सूर्य ग्रहण बोलते हैं राहु के साथ सूर्य का कोई संबंध ही नहीं है परंतु ऐसा प्रतीति होती है कि राहु ग्रस्त दिवा करेंदु सादृश्य जैसे दिवा का सूर्य को राहु ग्रास कर लेता है इसी प्रकार माया समाच्छेदन माया सम्मत करने के कारण हमें माया निद्रा में सो करके शरीर को सत्य लगता है और शरीर से जो व्यवहार करते हो भी सत्य लगता है संसार सत्य लगता है और आत्मा को आभास लगता है चिदाभास हो जाओ करो आभास आत्मा सत्य आत्मा प्रकृति राहुग्रस्त दिवाकर मात्र करण उपसंहार जो भूत सुषुप्त सुषुप्त काल में जब मतलब सब इंद्रियों का हम इकट्ठा कर लेते वो जो स्थिति रहती है वो मतलब शुद्ध चेतन अवस्था आनंदमय अवस्था वो हमारी पारमार्थिक स्वरूप परंतु जब तक ये माया के द्वारा घेरे में है उठने के बाद फिर शरीर के साथ आध्यात्म करना तो परंतु अब जब जग जाते हैं तब समझ में आता बोलता है अरे पहले तो मैं सोया हुआ था तभी सपना देख रहा था अभी तो मैं जाग गया हूँ मैं शरीर इंद्र मन बुद्धि नहीं हूँ जो ऐसा समझता है वो दक्षिणा मूर्ति है वही तुम्हारा शरीर वही दक्षिणा मूर्ति है वही तुम्हारा शरीर है इसलिए ये प्रत्यक्ष प्रमाणत्म जानते आत्म वेदना आगे और बोल रहे हैं देखिए व्योमवत् सर्वभूतस्थ भूतो दोषैर्विवर्जिता व्योमवत् सर्वभूतस्थो भूत दोषित साक्षी चेता गुण गुणशुद्ध ब्रह्मैवास्मेति केवलः ब्रह्मवत् सर्वभूतस्थ भूत दोषित साक्षी चेता गुण शुद्ध ब्रह्म केवल अच्छा। हम्म। बोलते हैं कि व्योमवत सर्वभूतस्थ मैं आकाश की तरह व्यापक हूँ समस्त भूतों में विद्यमान हूँ परंतु निर्लिप्त हूँ व्योमवत सर्वभूतस्थ भूत तो दोष विवर्जित भूत में जितना दोष दिखाई दे रहा है उस किसी भी दोष के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है पंचभूत से बना हुआ जो शब्द स्पर्श रूप रसगंध और उसका विकार इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है व्योमवत सर्वभूतस्थ आकाश की तरह समस्त भूत में विद्यमान हूँ भूत तो दोषेर विवर्जित भूत में जितना दोष दिखाई पड़ते सारे दोष से मैं रहित हूँ मैं क्या हूँ मैं साक्षी हूँ मैं चेतन हूँ मैं निर्गुण हूँ अगुण मतलब निर्गुण कोई भी गुण के साथ मेरा कोई संबंध इसलिए मैं हमेशा शुद्ध हूँ साक्षी चेता शुद्ध साक्षी चेता निर्गुण केवल साक्षी चेता निर्गुण शुद्ध ब्रह्म व्यापक तत्व में केवल केवल हूँ मात्र हूँ और कुछ भी विशेषता नहीं है मुझमें तो बोलते हैं कि व्योमवत सर्वभूतस्थ आकाश की तरह समस्त भूत में विद्यमान रहते हुए भी भूत दोषी विवर्जित भूत के अंदर जितना दोष अथवा गुण है दोष गुण जो भी बोली सारा उस समय रहित भूत दोषी शब्द स्पर्श रूप स्कंद उससे बने हुए जो विकार ये दोष रूप है इसी के प्रति हम आकृष्ट होता है उसी को पकड़ के रखने की कोशिश करते हैं परंतु उसके साथ मेरा कोई संबंध तीनों काल में कभी न था ना है न हो सकता है इसलिए सर्वभूत भूत दोषेर विवर्जित भूत के समस्त दोष से मैं विशेष रूप से वर्जित हूँ ठीक है वो तो ठीक है तो हो क्या तुम बस मैं यही हूँ साक्षी केवल मतलब प्रकाशक उसमें कोई विकार नहीं है साक्षी में ध्यान रखना साक्षी में विकार नहीं है जहाँ विकार है वो साक्षी नहीं हो सकता है विकार प्रमाता में हो सकता है प्रमाता के विकार को हम समझते हैं इस चीज को अब ये नहीं समझना कि मन में कभी कोई विकार उठेगा ही नहीं विकार उठने दो पूर्वक के तो कर्म के अनुसार जो सुख दुख की जो भोग भगवान ने प्रारब्ध में लिख रखा वो आएगा परंतु वो मन में है आत्मा में नहीं है उसको मैं देख रहा हूँ मैं उसका प्रकाशक हूँ इसीलिए उसके साथ मेरा संबंध नहीं है थोड़ी देर मन जो है उधर भटकता मतलब दुखी करके फिर ठीक हो जाता है इसीलिए उसके प्रति जो उसको दुख को निवारण करने का कोशिश मत करो दुख अपनी जगह पे है उसके साथ हमारा क्या संबंध है इसको तितिक्षा गुण इसलिए पहले बोल कर है दुख को निवारण की प्रतिकार करने से मतलब प्रतिकार की इच्छा मतलब है मैं वहां पे तादात्मता कर लिया ठीक है प्रारब्ध वशात कुछ हो रहा है तो होने दो उसमें भी निषेध नहीं है वो शरीर का प्रारब्ध है वो भी समझना है तो शरीर की प्रारब्ध आत्मा की नहीं है आत्मा तो साक्ष्य रूप में शरीर की प्रारब्ध को भोग को देख रहा है सुख दुख जो भी है भोग को देखने वाला है इसलिए साक्षी चेतन अगुण शुद्ध निर्गुण मतलब मैं साक्षी हूँ मैं चेतन हूँ समस्त गुण से जो तो इसलिए शुद्ध हूँ शुद्ध हाँ, व्यापक हो ब्रह्म व्यापक एवं अस्मृति केवल मैं बस अस्थि मात्र हूँ अस्तित्व मात्र ही हमारा अस्थि रूप में मेरा स्फूरण होता है केवल अस्तित्व मात्र रूप में मेरा स्फूरण होता है और कोई उसके साथ कोई जो भी कोई गुण दोष दिखाई पड़ता है वो आत्मा में नहीं है वो जो है पंचभूत से बना हुआ जो विकार है उस पंचभूत में दोष गुण है इसलिए सब उसी में है आत्मा में नहीं है बार बार ये विचार यदि मन में दृढ़ हो जाता है तो शरीर किस भी हो जाए पड़े रहे उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता क्यों हम तो उसका देखने वाला हूँ और दूसरी बात क्या है बुढ़ापा में ऐसा हो सकता है यदि मान लीजिए ऐसा होता है तो बृहदारण्य कुछ आया हुआ है ये मेरा तप है भगवान ने शरीर से कुछ तप करवा रहे हैं इस भावना को लेकर के मैं तपस ये तपस कौन ये तप शरीर की तप को हम देखने वाले हैं शरीर में आया है व्यक्ति कोई दिक्कत नहीं आने दीजिए उसको जो भावना क्या करना है ये शरीर एक तप कर रहा है तप करने से शुद्ध होता है किसी को तपाते हैं तो शुद्ध होता है किसी को तप करने से शुद्ध हो जाएगा हमारा जितना प्रतिबंधक था मुक्ति में वो प्रतिबंधक पिघल के चला गया एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम देखेंगे ना तो कुछ भी बंधन नहीं रहेगा कभी दुख भी नहीं आएगा कुछ पर्च नहीं कर पाएगा दुख मैं केवल हूँ केवल व्यापक हूँ असंग हूँ पूर्ण हूँ बस व्योम सर्व सभी भूतों में विद्यमान हूँ मैं ऐसा नहीं कोई कहीं पे हूँ कहीं पे नहीं हूँ हर जगह पे समान रूप में विद्यमान रहते हुए आप देखिए हर जगह पे समान रूप में विद्यमान रहते हुए यदि एक शरीर का सुख दुख को भोगने से बचने के लिए हमने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गया हो गया उल्टा सभी शरीर में शास्त्र बोल रहे तू ही अकेले सारे शरीर में है तू ही भोग रहा है तू ही भोग से मुक्त कर लो तो, तो वो नहीं है यानी कि भोग के साथ तुम्हारा संबंध ही नहीं है यदि भोग के साथ संबंध होता तो भोग से कभी बच पाओगे कभी नहीं बच पाओगे सारे शरीर में तो अकेला तुम ही हो सारे शरीर में सुख दुख तो भोगने वाला तुम ही हो यदि भोग से संबंध होता तो हमेशा ही बना रहता भोग के साथ संबंध नहीं है इसलिए सभी शरीर में रहते हुए भी मेरा कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मैं सर्वथा असंग यही वेदांत मुख्य सिद्धांतों को यदि हम ठीक संबंध से ग्रहण कर लेते हैं तब ठीक है शरीर अपने कर्म के अनुसार भोगता रहेगा परंतु मेरे साथ उसका कोई संबंध नहीं इसलिए नाम रूप क्रियाभ्यन्न नित्य मुक्त स्वरूपवान अहम आत्मा परम ब्रह्म चिन्मात्र अहम सदद्वय बार बार इसी को विचार करते रहना नाम रूप क्रिया जहाँ पे नाम रूप और क्रिया दिखाई पड़ रहा है उससे मैं भिन्न हूँ क्योंकि मैं सबको देखने वाला हूँ नित्य मुक्त स्वरूपवान नित्य मुक्त स्वरूप वाला हूँ अहम आत्मा परम ब्रह्म मैं आत्मा हूँ मैं शुद्ध हूँ मैं व्यापक हूँ चिन्ह मात्र हूँ मैं शुद्ध चेतन मात्र हूँ सदा अद्वय समस्त भेद से रहित सजातीय विजातीय सगद्भुत कुछ भी नहीं है मुझमें ये श्लोक यहाँ पे सरल भी है और बार बार चिंतन ही है यही चीज को यदि हम बार बार चिन्ह मन में बैठा लेते हैं तो बस खुश रहेंगे दिन भर खुश रहेंगे नाम रूप क्रियाभ्य अन्न नाम रूप और क्रिया से मैं बिल्कुल अलग हूँ भिन्न हूँ मैं नाम रूप क्रिया को मैं सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला हूँ उसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है नित्य मुक्त स्वरूपमान मैं हमेशा मुक्त हूँ बंधन मुझको कभी छुआ ही नहीं कहाँ से आएगा बंधन बंधन तो कल्पना है इसलिए मुक्ति ही कल्पना है ये मुक्ति हमेशा ही हमारे अंदर विद्यमान है मुक्ति बाहर से आता नहीं है मैं तो आत्मा मतलब प्रत्येक के अंदर सत्ता स्फूर्ति प्रदान करना मैं सबका स्वरूप हूँ अहम आत्मा परम ब्रह्म मैं सबके स्वरूप भूत होकर के विद्यमान हूँ व्यापक हूँ ब्रह्म मतलब व्यापक हूँ असंग हूँ इस प्रकार चिन्ह मात्र अहम अशुद्ध चेतन हूँ सदा हमेशा भेद रहित हूँ तो देखिए भेद के अंदर रहते हुए भी मैं भेद रहित हूँ शरीर तो भेदमान है अर्थ क्रिया नाम रूप अर्थ क्रिया ये सब अलग अलग है पर सब भिन्न भिन्न इतना होते हुए भी भी मैं बिल्कुल असंग हूँ अकेला मैं अकेले मेरे में कुछ भिन्नता नहीं है सभी नाम रूप को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करते हुए भी भी मेरे अंदर कोई भिन्नता नहीं मेरे अंदर कोई भिन्नता नहीं इस प्रकार बार बार नाम रूप क्रियाभ्य नित्य मुक्त स्वरूपवान अहम आत्मा परम ब्रह्म चिन्मात्र अहम सदा दया हूँ आत्मा में ही सबका स्वरूप भूत होकर के बैठा हूँ मैं व्यापक हूँ मैं शुद्ध हूँ शुद्ध चेतन मात्र हूँ समस्त भेद से रहित हूँ यही विचार इस बार बार यदि मन में ये विचार चलते रहना तो देखना कि संसार की कोई चिंता मन में घुस ही नहीं पाए बस इसी भाव में दिन भर इसके एक सिमलेंस धारा चलता रहता है बाकी ठीक है शरीर अपनी प्राप्त अनुसार जो कर्म होता है करेगा उसको तो हम हटा नहीं सकते हैं और परंतु तादाद में भी नहीं करना इतना हम कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं वही हमारे लिए जहाँ हम ममत बुद्धि लगाएंगे वहां पर दुखी होंगे और सभी के साथ समान भाव उतने विद्यमान तो रहे कहीं भी रहे कैसे भी रहे तो दुख आपको स्पर्श नहीं कर पाएगा स्पर्श नहीं कर पाएगा ठीक है इसको यहाँ पे रखते हैं अब थोड़ा सा वैराग्य शतकम के एक श्लोक को देखेंगे दे। तक सात तक हो गया अच्छा बहिरंग तक तो हमें अभी मन को लेकर यही तो सबसे बड़ा समस्या के कारण मन ही है दिन भर भटकते भटकते भटकते भटकते इतना मतलब सुनने पर भी फिर उनके भटकाव बंद नहीं होता वो फिर नया नया भटने भटकने की जगह को ढूंढ लेते हैं नया नया भटकने की जगह ढूंढ लेते हैं मन तो कभी आकाश में कभी पाताल में कभी दिगंत में कल कहाँ तक पढ़ लिए थे प्राप्त श्रेया सकल हाँ, हाँ, हाँ, प्राप्त श्रेया सकल काम उद्घात तथक किम नस्त पदम शिरसी विदिशतम किम संपादित प्रणयन विभवित किम कल्प स्थित स्तनुभृतम तनव किम अरे तुमको मान लो ये सब मिल भी जाता है बोलो क्या होगा क्या तो सुखी हो गए नहीं हो गए जितना वैभव है सारा मान लो प्राप्त हो गया तुम्हारे जितना शत्रु तुम जिसको मानते हो उनका सर पे पैर रख के तुम बैठे हो ऐसा मान लो और फिर जितना तुम्हारा दोस्त है प्रिय वस्तु है उस सब के वैभव तुमने इकट्ठा करके अपने पास रख लिया भगवान तुमको शरीर भी दे दिया होगा क्या उससे उससे क्या हो बस कुछ दिन बाद शरीर की बुढ़ापा तो आएगा ही और उपभोग से शरीर की सामर्थ्य भी चला जाएगा दुखी होते रहोगे दुखी होते रहोगे तो क्या दुख होगा हाँ मेरे पास होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा जब नहीं था तब भी दुखी जिस समय भोगा उस समय वो संस्कार अंदर ऐसा गया कि कई जन्म के दुख के लिए रास्ता खोल दिया कई जन्म के दुख के लिए रास्ता खुल गया इसलिए ये इतना होने पर भी लाभ क्या होगा क्या लाभ होगा कुछ चीज के लिए थोड़ा सा एक मानसिक शांति अथवा समाज में दिखाने के लिए मैं धनवान हूँ मैं कोई भगवान हूँ इतना ही है इससे एक मानसिक है अब तो तुम जितना तुम्हारे पास होगा उससे भी अधिक आला कुछ ना कोई ना कोई होगा ही होगा कोई ना कोई होगा ही होगा नौ नौ वाला सोचता है मेरा दस हो जाए निन्यानबे वाला सोचता है मेरा सौ हो जाए नौ सौ निन्यानबे वाला सोचता है मेरा तो हजार हो जाए इस प्रकार हर एक में यही दुख ही दुख रहेगा इतना भी रहे यही चिंता मन क्योंकि इसलिए इसको मन को बिल्कुल शुरू में ही रोकना है जितना है इसमें क्या कमी है क्या इससे हमारा काम नहीं चल रहा है इससे जब अच्छा चल रहा है तो दूसरे के लिए क्यों सोचेगा क्या क्या लाभ होगा उसको सोचने से इसलिए कि हर जगह पे किम इससे क्या होगा इससे क्या होगा इससे क्या इससे परंतु जो मानसिक शांति अगर प्राप्त करना चाहते हो तब तो क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए उन्हें श्रेय के लिए मतलब ये जो शांति को तुम ढूंढ रहे हो ये सब चीज मिल जाने पर अशांति बढ़ेगा वही घटेगा नहीं सब मिल जाने पर अशांति बढ़ जाएगा चिंता हो जाएगा सिक्योरिटी गार्ड बुलाना पड़ेगा सोने के लिए कोई सेवक लगा के सर में तेल लगाना पड़ेगा चिंता मन में रही कैसे रक्षा होगा कहाँ जाएगा क्या करेगा नहीं है में जितना शांति है में इतना शांति नहीं है है में अशांति अधिक है मन ऐसा लगता है कि बस एक बंगाली में है ना নদীর ওপার কয়ে ছাড়িয়া निश्वास ए पार कहे ऊपर तो सर्व सुख हमारे विश्व पास ऐसे ही मन ही कहते हैं कि उस उधर सुख है हमारे पास नहीं है दूसरे के पास सुख हमारे पास नहीं है यही सबसे बड़ा परेशानी है मन की तो इसके लिए मन इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो इतने सारे चीज मिल जाने पर भी तुम्हारे भी जो वृत्ति है मन की वो जाएगा ना ऐसे ही रहेगा कुछ दिन के लिए कुछ क्षण के लिए थोड़ा बहुत चुप बैठने पर चुप बैठेगा नहीं उसको भोग के फिर दूसरा चिंतन लग जाता है मन में इसको कैसे रख सको कैसे का कहाँ पे क्या रखने का तो यही सब चीज चलता रहेगा इसलिए यदि शांति चाहे तो मानुष्य आनंद आनंद चाहता आनंद में रहना चाहता तो क्या करो भगवान मन को लगाओ मरण जन्म भयस्थितं स्नेह न बन्धुषु न मन्मतजा दोष रहिता विजना बनाता वैराग्यमस्ति किम् अत परमर्थनीयम् भवे मरण जन्म भयम हृत्स्थित स्नेह न बंधुषु न मन्मथज अभिकारा संसर्ग दोष रहिता वैराग्यमस्ति किम अत बस क्या करना है इस समय श्रेय साधन क्या है मन इसको जरा अच्छी तरह से समझ लो भगवान में भक्ति करो भगवान में भक्ति करो भवे मतलब ये भव सर्व रुद्र भगवान शिव जी का नाम है एक भव भव सर्व रुद्र तो उस भव में मतलब भगवान शिव जी में भक्ति लाओ भक्ति मतलब भजन और संपादन करो और जन्म मरण भयम हृतम ये जन्म मृत्यु का भय हृदय में धारण करके रखो कि चाहे कितने भी धन संपत्ति मिल जाए इसको छोड़ के जाना ही होगा एकमात्र शंभु पद निर्भय है पहले बोल कर खाया स्त्री पुत्र धन दौलत में स्नेह होता है कोई बोलते हैं स्नेह न बंधुषु न मनमथ जा बिकारा ये बंधुओं में मतलब रिश्तेदारों में कोई स्नेह मत रखो और न जो ईमान मत हजा मतलब काम उत्पन्न करने कामदेव जी उनके विकार के जो परतंत्र था उससे भी हट जाओ उसमें उसको मन में स्थान मत दो और संसर्ग दोष रहित अभिजन जहाँ पे किसी के साथ कुछ संसर्ग नहीं तो निर्जन स्थान में वन में जा करके वैराग्य वाला बन करके बैठो इसके परे और क्या इससे श्रेष्ठ वस्तु क्या प्राप्त किया जा सकता है बस ये सब चीज जितना मन में रखोगे उतना ही मन में जो है विक्षेप उत्पन्न होगा जो भगवान शिव जी है कल्याणकारी परम शिव जी का भक्त बनो शिव जी का चिंतन करो उनकी भक्ति में मन लगाओ ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसको चिंतन करते शरीर के साथ तादात्म मत करो जितना संसार की सांसारिक वस्तु के प्रति मन ले जाओगे उतना ही बार बार अनेक बार जन्म लेना पड़ेगा भोग इच्छा रहेगा अब जितना अति परिजन रिश्तेदार है उसमें जो ममत्व बुद्धि है वो त्याग करो और फिर जो है जो काम की बेकार बस जो है दोस्तों के साथ जो मित्रता उसके साथ संग करना उधर भी मत जाओ निर्जन किसी एक जन में एकांत में जा करके बैठो वैराग्य अवलंबन पूर्वक बैठो शिव जी के नगरी में रास्ते के ऊपर बैठे रहेंगे तो भगवान शिव जी कुछ ना कुछ ला के दे ही देगा भोजन करने के लिए शरीर धारण करने के लिए जितना अन्न जितना वस्त्र चाहिए वो भगवान अपने यहाँ पहुंचाएगा विश्वास करके तो देखो मान ये धन दौलत से क्या करो धन दौलत से क्या करोगे उसकी रक्षा के पीछे फिर फंसते जाओगे और परेशान होते जाओगे इसलिए वैराग्य से अधिक और श्रेष्ठ अभिलाष क्या हो सकता है और कुछ भी नहीं है वैराग्य श्रेय प्राप्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है वैराग्य बोध पुरुष से पक्ष विचक्षण विचार ही गुरु आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए वैराग्य और बोध यही दोनों तो है तुम्हारे दो विंग्स है डाना है उसी के ऊपर आश्रय करके तो मुक्ति की सबसे उच्चतम सीमा पर पहुंच सकते हैं उनमें से एक को छोड़ देने से नहीं होगा वैराग्य वैराग्य होने से बोध उत्पन्न होता है क्योंकि अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोध अभ्यास करोगे भगवान शिव जी को चिंतन करने का अभ्यास और संसार से वैराग्य जिससे मन जो है शांत होता है मन संसार छोड़ जाता है मन मन को आप मतलब निरोध करके ध्यान में लगा सकते हैं अभ्यास क्या अभ्यास करना है भगवान में मन लगाने का अभ्यास करना है और दूसरा क्या चाहिए जगत से मन को उठाना है जगत मन को उठाना है इसलिए अभ्यास वैराग्य जो भी गुरु मंत्र गुरु नाम मिला उसी को अभ्यास करना उसी पे बार बार अभ्यास करते रहे और शिव जी में मन को लगाने का अभ्यास करें और जो है सांसारिक वस्तु की जो भी चिंतन है तुरंत उसको भगवान में अर्पण करे इससे मिला क्या करें इससे क्या लेना है मेरा क्या लाभ होगा इससे क्या काम आएगा मेरा ये दूसरे को किसी का काम आता है ठीक है परा रहने दो जब किसी का काम आएगा दे देंगे इससे हमारा कोई काम नहीं छुप देगा इसलिए उसके पीछे दौड़ना ये भावना छुप देना चाहिए बोला तो जितना बचेगा तो भगवान हमारे शरीर के लिए जितना चाहेगा वो तो अपने बात में आप ही वो ला के आपका जो क्षमम भाव महान की प्रतिज्ञा भगवान का इसलिए वैराग्य को अवलंबन करके और इससे चला है की इच्छा है और कुछ नहीं चाहिए इसको मन में शांत होकर के एक जगह पे चुप से बैठो मतलब एक बेजान अरण्य बोल रहे वन में पहले बोला था शिव जी के नगरी में मतलब कल्याणकारी कोई स्थान जहाँ पे मन शांत होता है वही वन है वहां पे अरण्य शब्द के लिए भगवान भास्कर एक जगह पे लिखता है जहाँ पे चित्त विक्षेप कम है वही अरण्य है क्योंकि आज जंगल में जाके बैठेंगे फिर भी वहाँ पे ऐसा ऐसा रिसोर्ट बना हुआ है चित्त विक्षेप के हेतु बनेगा तो भगवान भास्कर से लेखा स्त्री जन असंकीर्ण प्रदेश विक्षेप रहित जहाँ से कोई विक्षेप कारण के निमित्त से जो है वो वस्तु कम होता है इस प्रकार स्थान में जा करके एकांत में मन वहीं पर बैठ करके शिव जी के चिंतन करो भगवान के चिंतन से कल्याण है विषय चिंतन से कल्याण नहीं है और उसी से वैराग को प्राप्त करके फिर आत्म आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो संसार बंधन से छुड़ा देगा तस्मादनन्तरम् अजरं परमं विकासि तद्ब्रह्म चिन्तय किमेभि असद्विकल्पे जस्वानुषङ्गिनैमे भुवनाधिपत्त भोगादय कृपणलोकमता भवन्ति तस्मादनन्तम् अजरं परमं विकासि तद्ब्रह्म चिन्तय किमभि असद्विकल्पे जस्वानुषङ्गिन इमे भुवनाधिपत्य भोगादय कृपन लोक मता भवंती बोलते हैं इसलिए इसलिए क्योंकि वैराग्य ही एकमात्र सुख देने वाले वस्तु है भगवान श्री कृष्ण बोलते त्यागात शांति अनंतर यदि शांति चाहते हो तो त्याग की वृत्ति को मन में बना के कोई भी वस्तु के साथ संपर्क मत करो तस्मात इसलिए अनंतम अजरम परम विकसम स्वयं प्रकाश सीताराम जी ये जो विकास जी में आपके पुस्तक में कास्ट में दंत लिखा है कि डेंटल अथवा पैलेटल क्या लिखा है सीताराम जी है आज के नहीं है ना सीताराम जी वो बंद कर देते हैं यहाँ पे अच्छा, हमारे पुस्तक हाँ विकास तो- हाँ, लिखा ना हाँ। आपका ये पुस्तक ये पुस्तक कौन सा प्रकाशन है जहाँ पे ताली वर्षा लिखा हुआ है मेरी मेरी कोई मैं तो मेरे पास पुस्तक नहीं है मेरे पास तो मोबाइल पर है वो ऑनलाइन हाँ। अच्छा, अच्छा नहीं मैं श्यामली माता से मैं पूछ रहा हूँ आपका ये पुस्तक कौन सा प्रकाशन है ওই তো সত্যানন্দ মহিমার এটা বিডিংকে দিয়েছিলেন ওনার ওটাই আমি মানে করেছি अच्छा अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक है ठीक है क्योंकि काश दीप्त जो धातु है उसमें दंत दिखाई पड़ते हैं परंतु कहीं कहीं विकल्प भी है उसका दोनों प्रकार से बोलते हैं तो ये तस्मात अनंतम अजरम परम विकास यहाँ पे परम स्वयं प्रकाश ये विकास यहाँ पे काश दीप्ति अर्थ में आया हुआ है इसलिए जो अनंत है जरा से रहित है और श्रेष्ठ तत्व है और जो स्वयं प्रकाश है इस प्रकार जो ब्रह्म पद है ता उसका चिंतन करो चिंतय किम ये भी असद विकल्प रही असद वस्तु को लेकर के विकल्प करने से क्या लाभ है असद वस्तु को लेकर के ये होगा ये करूंगा वो करने से क्या लाभ है परंतु देखो जितने सारे भोग वस्तु को लेकर के तुम सोचते हो ना ये जो भुवनाधिपति भगवान शिव जी है ये उसके सारे अधीन है कि तुम शिव जी के चिंतन करो जितना तुमको चाहिए उतना भगवान देंगे परंतु आपने आप उसके पीछे दौड़ते रहोगे तो भोग दो दूर चला जाता रहेगा जस अनुषंगी इमे भुवनाधिपत्य भोगादय जिस भुवन प्रति के अधीन होकर के भोगादि तो दिखाई पड़ते हैं इसका अनुषंगी मतलब अनुचय रूप में वितरण करते रहते हैं उसके चिंतन करो उसके चिंतन करो क्योंकि भगवान हर चीज के मालिक है जो चीज आप चाहते हो भगवान के चिंतन करने से वो भगवान हमारा जितना चाहिए उससे अधिक दे देगा परंतु हम भगवान चिंतन को छोड़ करके वस्तु को चिंतन करेंगे तब क्या हो जाएगा वो वस्तु उतना ही मात्र रह करके रह जाएगा उसका जो लाभ है वो हम उठा नहीं पाएंगे भगवान गीता के बोले ना भगवान जम जम मतलब जो जो जम जम का मतलब जो वस्तु जैसा व्यक्ति जैसा कामना करते हैं उसी प्रकार उनका जो है वस्तु को हम देते हैं भक्ति भी देते हैं और उसके माध्यम से उस वस्तु को प्राप्त भी करा देते हैं परंतु दुख की बात है मैं वहां पे विद्यमान रहते हुए भी लोग मेरे को नहीं समझ पाते हैं जो जो जाम जाम तनुम भक्त श्रद्धेम अर्चुत मिच्छसी जो जो जामदम तनुम भक्त श्रद्धम भगवान देते हैं उसको इसलिए भगवान के चिंतन करो भगवान के चिंतन करने से तो जो तुमको चाहिए वो भगवान अपने आप ही देगा परंतु भगवान को छोड़ करके विषय चिंतन करने से उसका भोग उतना ही मात्र होकर के रह जाएगा इस भगवान चिंतन के फलस्वरूप संसार बंधन से मुक्त होकर के अनंत सुख के अधिकारी हो सकते थे बस परिच्छिन्न सुख को लेकर के दो दिन जी करके फिर मरते हुए आओगे वहां पे इसलिए बोलते हैं इसलिए मन वैराग्य को अवलंबन करके अनंत अजरम परम प्रकाश रूप जो ब्रह्म तत्व उसका चिंतन करो इस असत विषय को चिंतन करने से क्या लाभ है सभी व्यक्ति समझते भी है हम जानते भी है जाने क्या माया की महिमा है फिर जो भगवान के भगवान तो हर चीज के मालिक है जो हम चाहेंगे भगवान के चिंतन करने से भगवान नाम जितने के लिए अधिकारी है भगवान तो देंगे ही देंगे वो देने के लिए तो बैठा हुआ है इसीलिए इस बड़ा सुंदर शब्द भुवनाधिपत्य भोगादय कृपन लोक माता कृपन लोग जो सोचते हैं ये हमारे लिए उपयोगी होगा वो सारे मालिक तो भगवान बैठे वहां पे इसीलिए उन्हीं को क्यों ये विषय चिंतन करने से क्या लाभ है जिस परमात्मा का ये सारी वस्तु भोग्य वस्तु जो कृपण लोग के लिए बहुत मूल्यवान रखता है जो मतलब कृपण मतलब मनुष्य शरीर पा करके मुक्ति को चिंतन नहीं करते भोग चिंतन का ही कृपणता है यही कृपणता है जो बृहदारण्य उपनिषद में आते हैं जो भाई गार्गी अक्षर अभिदित तस्मात लोकात पैतीसरा कृपण बना फल हेतु भगवती भगवान बोलते हैं कि जो कर्म करके फल के चिंतन करते हैं वही कृपण है और जो इस शरीर में पा करके भगवत चिंतन किए छोड़ के अन्य चिंतन में लग जाते भगवत प्राप्त किए बिना चला जाता वो मनुष्य कृपण है भगवान ने उनको सामर्थ्य दिया था परंतु खर्चा नहीं किया बस मनुष्य शरीर को ऐसे ही बर्बाद कर दिया इसलिए कृपण लोग की अभिमत जो भोग्य वस्तु है अरे वो सारा भोग्य वस्तु जिसके अधीन है उसका चिंतन करो ना भोग वस्तु को चिंतन करने से लाभ नहीं आएगा तुम्हारे कैपेसिटी के अंदर कुछ दिन चला जाएगा परंतु तो जिसके अधीन है वो सारे भोग वस्तु वो परमात्मा की यदि चिंतन करोगे तो भोग वस्तु भी मिलेगा परमात्मा की कृपा भी मिलेगा भोग वस्तु तुम्हारे पास रहेगा उसको रक्षा करने के लिए अलग करके प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा ये यहाँ पे बोल रहे हैं तस्मात अनंत मजरम परम विकासी तद ब्रह्म चिंतन किम ए भी असद विकल्प असद वस्तु को चिंतन करने से क्या लाभ होगा मन जस अनुसंगिन इमे भुवनाधिपत्य भोगादय ये भुवन के अधिपति परमात्मा ये सारा भोग भोगादय ये पूरा एक समाज पद है इमे भोगादय तो परमात्मा के अधीन ही समस्त भोग है परंतु हम भूल जाते हैं परंतु क्या है और उस भोग के प्रति मन लोग को अभिमत भी प्रथमा वचन है कृपण लोक के अभिमत कृपण लोक मतलब जो भोग करना चाहते हैं भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं है यही सबसे बड़ी कृपणता है भगवान ने इतना सुंदर सामर्थ्य दिया मनुष्य शरीर दिया विचार बुद्धि सुष्ट दिया फिर भी जो भगवत चिंतन करने से मन विमुख हो जाते है यही कृपण कृपणता है ये कृपण लोग के अभिमत जो भोग जो भोग वस्तु जिसका मालिक है भोग वस्तु का सारा मालिक जो परमात्मा शिव जी है अरे उनकी भजन करो तो सारा भोग वस्तु तुमको छोड़ देंगे मैं कई बार बोला इस, इस कथा को एक राजा के पास एक बकरी थी और राजा चाहता था कि बकरी खाने की इच्छा छोड़ दे और सभी को लगाया परंतु किसी ने कर नहीं पाया एक व्यक्ति ने अनेक दिन अभ्यास करते करते करते करते बकरी को पीटते पीटते जिंदा भी रखना पड़ेगा मारने से नहीं होगा क्योंकि राजा के पास ले जाके दिखाना पड़ेगा कि बकरी अभी खाना नहीं चाहते तो अभ्यास करते करते फिर जब बकरी के पास कितना भी खाना रखते वो खाना नहीं खाते क्योंकि इतना मार खाया इतना मार खाया था वो खाना ठीक है शरीर धारण करने के लिए उतना खा लेता है तो ऐसे ही हमारी मन जो बकरी है वो भोग वस्तु के पीछे दौड़ता ही रहता है दौड़ते परमात्मा चाहते है कि पूरा साम्राज्य हमको दे दे परंतु बकरी को थोड़ा कंट्रोल कर लो नहीं तो साम्राज्य को उपभोग नहीं कर पाओगे वैराग्य के माध्यम तेना त्याग तेन भूंजिता वैराग्य के माध्यम से भोग करोगे तो भोग की तृप्ति है और भोग दृष्टि से भोग करोगे तो भोग से अतृप्त असंत कभी तृप्त होगा ही नहीं इसलिए यहाँ पे बोलते हैं जस अनुषंगिन इमे भुवनाधिपत्य भोगाद परमात्मा के अधीन जो भोगाद है जो कृपण लोग जिसको प्राप्त करते हैं वो जिस परमात्मा का अधीन है उस परमात्मा के चिंतन करो मन इसको असल वस्तु को चिंतन करने से क्या लाभ होगा तुम्हारे सारे अभिष्ट वस्तु भगवान तुमको अपने आप ही देंगे केवल भगवान के चिंतन करने से ये लाभ अधिक ठीक है आज यहीं पे रखेंगे समय हो गया ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण